जिसने कोई नेक अमल किया तो उसके अपने ही लिए है और जिसने बुराई की तो उसका बवाल उसी पर है फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे